मंत्र पाठ करेंगे ध्वन हमारी कल वाली होगी كبر जीवात्मा के लौकिक प्रयोजन और मोक्ष संबंधी जो मुख्य लक्ष्य है यह ईश्वर की सहायता से पूरा होता है प्रत्येक पदार्थ की शक्ति सामर्थ्य उसके गुणों का विवेचन करने से पता चलता है कि किस द्रव्य में किस पदार्थ में कितने गुण सामर्थ्य शक्ति है जो व्यक्ति ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य गुणों को जानता है जो व्यक्ति आत्मा अपने सामर्थ्य शक्तियों को जानता है जो व्यक्ति प्रकृति सत्वर जम समस्त विश्व जिससे निर्मित हुआ है उस सामग्री की शक्तियों को जानता है वह व्यक्ति ये समझता है कि हम बिना ईश्वर की सहायता के कोई भी प्रयोजन लौकिक और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते भौतिक जगत में भौतिक वैज्ञानिकों के क्षेत्र में ये बड़ी भयंकर भूल चलती है हो रही है उनको छोड़ो जो तो भौतिक वैज्ञानिक ईश्वर को मान के स्वीकार करते हैं कि वो ये नहीं मानते नहीं समझते कि हम बिना ईश्वर की सहायता के लौकिक प्रयोजनों को सिद्ध नहीं कर सकते और मोक्ष की बात उनके सामने नहीं है एक बार अपने काशीराम भवन अपने सत्यनारायण जी उपस्थित हैं वहां आते हैं वैज्ञानिक अच्छे हैं सत्संगी हैं वैदिक विचारधारा को कुछ स्वीकार करते हैं उनके सामने ये बात रखी गई कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते ईश्वर की प्राप्ति के लिए चेष्टा क्यों नहीं करते उन्होंने कहा ईश्वर की प्राप्ति करना ईश्वर को पाना ये कोई सब प्रयोजन नहीं है इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है तो हम क्यों ईश्वर की प्राप्ति कर हमने पूछा कहा यदि ईश्वर की प्राप्ति से उपलब्धि लाभ कोई हमको शक्ति मिलती हो तब तो आपको ईश्वर की गवेषणा खोज करनी चाहिए उन्होंने कहा कि फिर तो ठीक है कोई हमको सुख मिलता हो कोई ऐसी चीज तो करेंगे हमने कहा आप थोड़ा सा ध्यान दें जैसे लौकिक चीजों से हमको आनंद मिलता है उपलब्धि होती है खाते हैं जीवित भी रहते हैं सुख की उपलब्धि होती है उससे कई गुणा दुख रहित नित्य आनंद की प्राप्ति होती है इसलिए ईश्वर को जानना चाहिए एक भाग जो कि ईश्वर की सहायता मिलती है विविध शक्तियां मिलती हैं ईश्वर की सहायता के बिना हम काम नहीं कर सकते ये उनका नहीं मानना फिर ईश्वर में जो सुख है वो नित्य है दुख रहित है उसको स्वीकार नहीं करना इसमें मूल में ये बातें काम करती है लेकिन वैज्ञानिक लोग उसको इस रूप में स्वीकार नहीं करते दूसरी और चलो एक भूल दूसरे क्षेत्र में हुई ईश्वर को मानने वाले स्वीकार करने वाले भक्ति करने वाले पूजा करने वाले वर्गों रूपये खर्च करके दिन रात लगे रहने वाले लोग वह ईश्वर के स्वरूप को गलत रूप में जान बैठे इसलिए उनको कोई उपलब्धि नहीं ये ईश्वर समस्या खड़ी हुई बातें तो बहुत है एक बात याद रख लो वो ये मान बैठे ये समझ बैठे जो हम काम करते हैं उल्टा सीधा अच्छा बुरा वो ईश्वर ही करवाता है अब अब यहां पर ये भूल हो गई क्या समझ में आए समन्वय करो समन्वय संगति लगाओ यद्यपि ईश्वर के बिना एक तिल का दाना नहीं बन सकता पूरा विश्व है जो रजा बनाया ईश्वर के बिना कोई नहीं बना सकता सब कुछ ईश्वर ने अरबों खरबों लोग लोकांतर बनाए वनस्पति सोना चांदी आदि विविध पदार्थ हमारे लिए बनाए ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया बनाई जो आज तक वैज्ञानिक लोग उसको जान भी नहीं पाए सूक्ष्म है ये सब कुछ उसने बना के दिया और ये भी न देता न बनाता तो हम कुछ नहीं कर सकते यहां तक ठीक पुनरअपि देखिए इतनी स्थिति होने पर भी फिर ईश्वर ने हमको स्वतंत्र छोड़ दिया अच्छा करो बुरा करो मत करो जैसा करोगे बस अपने मिलेगा ये समन्वय करना चाहिए था इनसे ये नहीं हुआ जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं ईश्वर के पुजारी कहते हैं ये भी खाली बेकार तो वेद मंत्र में क्या है योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामये सखाय इंद्रम ऊतय अभी इस वेद मंत्र में क्या है शब्द तो वैसे सीधे भी हैं पर वैदिक रीति से अर्थ करना भी नहीं आता हो तो इसका ही उल्टा अर्थ भी कोई कर बैठेगा आप संस्कृत पढ़ते हैं तो योगे योगे में कौन सी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति तो सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ है मे पे पर यही है हो गया दो बार कहा वाजे योगे योगे, योगे बार बार योगाभ्यास में हो गया और वाज कहते हैं युद्ध को संग्राम को धर्म के लिए जो किया जाता है उसमें भी कौन सी वृत्ति है वाज भी वैसा ही है वाजे वाजे बार बार जो संग्राम होता है आंतरिक और बाह्य युद्ध अन्याय के साथ तो उसमें हवाम है हम ऐसे ईश्वर का आह्वान करते उसे सहायता चाहते हैं कैसा है वो ईश्वर नहीं यहां से चलेंगे योग्य योग्य तवस्तरम को छोड़ा है ना तवस्तरम तवस्तर कहते हैं अति बलवान को तवस्तरम और इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यशाली को तो ये तवस्तरम और इंद्रम ये ईश्वर के विशेषण है बताओ ये कौन सी भी होती है तवस्तरम कौन सी होती है द्वितीय विभक्ति का इंद्रम ये कौन सी युक्ति है तो उस इंद्र को या उस इंद्र की और तवस्त्रम अति बलवान परमात्मा की ठीक है ना अब ये है ना ऊतये ऊती शब्द का ऊत चतुर्थी क्या बनेगा ऊतये ऊतये अब ऊती कहते रक्षा को है जी यहां तक पहुंच गए सखाया हम सभी परस्पर मित्र बन करके सखा सखायो सखाय हम सारे के सारे आपस में मित्र बन करके ये क्या लिखा अर्थ बार बार योगाभ्यास में वाजे वाजे बार बार धर्म युद्धों में जी सखाय हम सब परस्पर मित्र होकर पूर्णतः रक्षा के लिए हवा में आह्वान करते हैं अर्थात ईश्वर की सहायता अब देखो संगति ये है कि चाहे वो योगाभ्यास हो उसमें ईश्वर की अत्यंत आवश्यकता है बिना ईश्वर के सहयोग के कोई भी व्यक्ति पूर्ण योगी नहीं बनता योगे योगे बार बार योगाभ्यास में ईश्वर की सहायता हमको मिलती है तब हम सफल होते हैं कभी अनुभव करते हैं कि हम ईश्वर की सहायता ले रहे हैं या लेना चाहते हैं कभी अंदर होके ईश्वर से मांग करते हो आप हाँ जी हो सकता है सारे दिन भर बाहर ही बाहर देखते हो अंदर देखते ही ना हो हम्म? बाहर बहुत देखता है जितना ये बाहर देखता है अंदर तो पराय नहीं देखता और कोई कहे कि तू एक घंटा बैठ कर तो आंख बंद करके लिए अपने आप को बहुत जालमू बना देता है और हो सकता है वो सोचता हो कि हे ईश्वर अब की बार मुझे यहां से नबवा दो जैसे तैसे अगले वर्ष तो मैं आने वाला हूं ऐसा सोचता हूं क्या हाँ कुछ ऐसे भी है जो ये सोचते हैं हम अगले वर्ष कैसे आए कुछ ऐसे सोचते हैं अब तो जब जाल में फंस गए अब जैसे तैसे छूटेंगे अगली बार नहीं एक और हमने पैसा दे दिया वो नहीं छोड़ सकते रोज का इतना खर्चा जाएगा अच्छा एक और यदि बैठे भी रहे ये नहीं बैठेंगे तो स्वामी जी ये नाराज होंगे कहां आ गया ये बैठना पड़ेगा अब तो जो कुछ करना कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या बना क्या है यहां ये क्या करवाते हैं यहां पर मन करो इतनी देर आज तो आंतरिक क्षेत्र में योगाभ्यासी व्यक्ति ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता बार बार ईश्वर की सहायता मांगता ईश्वर से उसको सहायता मिलती ईश्वर के दिए ज्ञान विज्ञान से समाधि को लगाता उस समाधि के माध्यम से ईश्वर का प्रत्येक करता और ईश्वर के आनंद को प्राप्त होता इसलिए कहा योग योग सतत योगाभ्यास करते करते ईश्वर की सहायता मांगो पुरुषार्थ के साथ एक है बाह्य युद्ध एक है आंतरिक युद्ध वाजे वाजे वाज का अर्थ संग्राम युद्ध युद्ध के दो क्षेत्र हैं एक बाह्य एक आंतरिक बाह्य को आप सभी जानते हैं अच्छी तरह देखते हैं हमारे देखते देखते अनेक युद्ध हमने देखे पाकिस्तान ने आक्रमण किया चीन ने आक्रमण किया फिर पाकिस्तान ने आक्रमण किया इतने युद्ध है पहले युद्ध था जो बहुत अंग्रेजों के राज्य में तो ये कितने संग्राम भयंकर युद्ध होते रहते हैं इनमें धर्म युद्ध में भी हम पूर्वक अन्याय को रोकने के लिए युद्ध करते हैं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं परमात्मा से साहस मिलता है उत्साह मिलता है बुद्धि मिलती है विश्वास मिलता है और निष्काम भावना से हम उस युद्ध में जो है सफलता प्राप्त करते जब हमको ईश्वर याद रहता है ईश्वर के नियम याद रहते हैं तो युद्ध को कैसे करते हैं सब मिलके करते हैं युद्ध को कैसे करते हैं निष्काम भावना से करते हैं युद्ध को हम कैसे करते हैं देशभक्ति राज्य को देते हुए करते हैं आपने युद्धों में देखा होगा बड़े लोभी व्यक्ति अति चालाक व्यक्ति चाहे वो सेना का अध्यक्ष क्यों न हो ऐसा जाल बिछाते हैं कितने पकड़े गए हैं आपने पहले सुना होगा लड़ाइयों में युद्धों में वो नीचे नीचे उनकी चालाकी चलती है देशद्रोही होते हैं ऊपर चाहे वो सेना अध्यक्ष के रूप में काम करते हों वो ईश्वर को न मानने वाले होते हैं देशद्रोही होते हैं वो ईश्वर को अपने साथ नहीं जोड़ते प्रलोभन के कारण पक्षपात पूर्ण वो युद्ध में वो धर्म से युद्ध नहीं करते एक आंतरिक संग्राम है भयंकर आप यह श्लोक सुनते हो कभी भरतरी हरि जी का ये अंदर का जो युद्ध है अंदर की जो लड़ाई है ये इतनी भयंकर है इतनी बलवती है आंतरिक संग्राम इतना बलवान है कठिन है इसके अंदर लड़ना इसको जीतना प्राय व्यक्ति के बस की बात नहीं है सौ हजार सैकड़ों हजारों लाखों लोग अपने देश के लिए अपने सम्मान को लेकर के अपने जीवन की आहुति दे सकते हैं टैंकों में कूद सकते तोड़ के गोले के सामने खड़े हो सकते आग में जल सकते हमने सुना है जिस समय युद्ध की स्थितियां थी उस समय योजना लंबी चौड़ी है जैसा सुना उसका आंशिक बात बताता हूं ऐसी स्थिति आ गई कि इस समय इस देश की ओर से विमान को पकड़ने वाला यंत्र उपस्थित है अब बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को खत्म कर देने की बात में सोचता है आओ सामने तो आया एक व्यक्ति एक आया दो आए उसको मारा धड़ाम से यंत्र को तोड़ दिया और स्वाहा हो गया ऐसे तो आपको सैकड़ों मिल सकते हैं हजारों मिल सकते हैं पर काम करो तो लोग को जीतने वाले करोड़ों में एक भी नहीं कितना कठिन है असंभव कुछ नहीं है सब हम ही करते हैं या हम नहीं कर सकते है जी जी जी बोलो ये बूढ़े भी कर सकते हैं हम्म? बूढ़े बूढ़िया भी कर सकते हैं क्या है हाँ जी एक जीवात्मा जिस काम को कर सकता उसको सब कर सकता महर्षि दानंद सरस्वती जी ने एक बात कही मनुष्य का आत्मा सत्या सत्य को जानने वाला है परंतु हटता दुराग्रह अनेक प्रयोजन स्वार्थों के कारण अज्ञानता के कारण वो स्वार्थ में समझ जाता इसे क्या निकला जिस व्यक्ति ने स्त्री पुरुष का शरीर धारण किया है वो प्रत्येक व्यक्ति सत्या सत्य को जान सकता है और अंतिम सर्व लक्ष्य को पूरा कर सकता है काम करो तो को जीत सकता है स्वार्थ अर्थता और दुराग्रह अनेक प्रयोजन अज्ञानता के कारण वो झूठ में झुक जाता है परंतु पर अस्सी वर्ष का बूढ़ा आता जाता बेचारे को है नहीं कान सुनते नहीं वो आज के नहीं लेकिन मैं आज इस काम को कर दूंगा आज नहीं कर सकेगा क्या समझ मारे अगले जन्म में करेगा वो एक जन्म दूसरा तीसरा वही जीवात्मा की बात है आप ये ना कर लेना वही अस्सी वर्ष का बूढ़ा है पढ़ा लिखा थोड़ा सा है अब तक आता जाता कुछ नहीं और स्वामी जी ने यह कहा है कि वे सभी लोग ईश्वर तक पहुंच जाएंगे इस जन्म में वो कहता मैं भी पहुंचूंगा ठीक है किसी ने कहा कि अमेरिका जा रहे हैं लोग वहां बड़ा सम्मेलन है वैज्ञानिकों का है धार्मिक है अपनी अपनी जो है याद वो यान लेके जाएंगे और वो जानता नहीं था यान क्या है इतनी दूरी की क्या होती है कहने का ठीक है भाई आप जाओगे तो मैं भी चलूंगा उन्होंने <laughs> कहा किस पे बैठ के चलोगे क्या ऊट गाड़ी है मेरे पास में <laughs> मैं भी चलूंगा तैयार हो गया ऊट गाड़ी में अब वहां विमान में बैठ के चलेंगे कहा अमेरिका जा रहे हैं कहते मैं ऊंट गाड़ी पे देख रहा समुद्र में घाट डूबेगा वो कहेगा मत भाई कहते अमेरिका भी जा सकते हैं उन्होंने कहा भाई अमेरिका जा तो सकते हैं वो जिसके पास विमान होगा ऐसे यात्रा के पानी का जहां वही तो जा सकता है बूढ़े का जान तो बूढ़ा होगा टूट गया वो विमान तो है नहीं वो कहा अमरीका जाए तो अति बलवान ईश्वर अवसरम इंद्रम पूत रक्षा के लिए हम अपने योगाभ्यास में बार बार ईश्वर की सहायता चाहते हैं मांगते हैं और बाहर का ही रक्षा के लिए हमें कुछ अपनी रक्षा करनी पड़ती है उसमें भी ईश्वर की सहायता मांगते हैं इस प्रकार से प्रेरणा लेनी है और दोनों क्षेत्रों का संग्राम युद्ध करना है बाहर की रक्षा भी करनी है और अंदर के जो शत्रु हैं ज्ञान अविद्या काम क्रोध लोग हो ये बहुत भयंकर पर ये मत मानना डरना नहीं है या तो ये आपको मारेंगे या आप इनको मारो एक तो होना है इनमें से आप बताओ क्या करोगे आलसी व्यक्ति कहता जी हम ही मर सकते हैं ये तो मर नहीं सकते वो मरेगा खूब मरेगा अगले जन्म में क्योंकि हम ही मर सकते हैं ये तो मर नहीं सकते वो लाखों बार मरता रहेगा पिटता रहेगा कबूतरी से बिल्ली से मरता रहता है उसकी आंख नहीं खुलती आलसी बने रहो प्रमादी पिटते रहो मरते रहो पिटते रहो मरते रहो गधे की तरह डंडे खाते रहो आंख ऐसे बंद करो कौन सा करोगे बोलो हुँ? हम्म? तीसरी बात नहीं हो सकती या तो इनको मारो या स्वयं तो मरो याद रखो मन जीत लिया जिसने जीना तो उसी का है मन जीत लिया जिसने जीना तो बस इनको मारोगे तो भाई मन जीत लिया जिसको जीना तो का नहीं तो मरे और जिए में कोई अंतर नहीं अब विराम दाता तेरे सिमरन का 啊。